बेशक मोमिन तो बस वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जब वो उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी इज्तमाही काम पर हाजिर होते हैं वो नहीं जाते जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ना ले लें बेशक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगते हैं यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि पर ईमान रखते हैं तो जब वो आपसे अपने किसी काम के लिए इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दे दें और उनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगें बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है